अपनी अंत स्थिति का पता चलेगा आपको क्या जैसे एक बालक अपने पिता को पास में उपस्थित देख करके यह निश्चित रूपेण मानता जानता है कि मैं अपने पिता के पास में बैठा हूं अब प्रश्न आपके सामने है क्या आप ऐसा जानते मानते हैं ईश्वर के विषय में तो आप अपनी अपनी स्थिति बताइए बोलिए फिर से सुन लीजिए ध्यान से जैसे एक बालक अपने पिता के पास में उपस्थित विद्यमान वो ये अनुभव करता है दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने पिता के पास में बैठा हूं तो क्या आपके मन में ईश्वर के विषय में ऐसा दृढ़ निश्चय है या नहीं वो होना चाहिए हो नहीं रहा है इसलिए ये बात उठाई जा रही है वो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है और एक भूल और होगी आपने उसको होना मान लिया है ये भूल ऊपर से हो रही है फिर से सुन लीजिए होना चाहिए था हो नहीं रहा है पर न होते हुए भी आपको उसको होना मान लिया गया है ये समस्या एक और खड़ी है है नहीं जैसे आपने कहा होना चाहिए था हो नहीं रहा है इसलिए ये बात मैंने उठाई है कि क्या आप भ्रमण तो नहीं पड़े वो है नहीं ऐसा पर मानते ये है कि हाँ हमको पता चल गया कि परमात्मा मेरे पास में बैठा है यदि बैठा है तो जैसे पिता से प्रभावित बच्चा रहता है क्या आप दिन भर प्रभावित रहते नहीं रहते गुरु जी से जैसे बच्चा प्रभावित रहता है इसी भवन में गुरुजी बैठे हैं दिन भर बच्चा उसको पढ़ता देखता अनुचित व्यवहार नहीं करता क्या इसी प्रकार परमात्मा से आप प्रभावित हैं यदि नहीं है तो आपको निश्चित ये ज्ञान अभी नहीं हुआ है नहीं हुआ और इसके हुए बिना इसका निश्चय हुए बिना ईश्वर का ध्यान भजन उपासना नहीं हो पाती आप बहुत मोटे संसार में सोच रहे हो बहुत मोटा संसार है जहां आप ये मान बैठे हैं कि हमको ज्ञान हो गया है वस्तु तो ज्ञान नहीं है कोई बहुत साधारण है तो ध्यान दो योग दर्शन के अनुसार तीन परमाणु से हम वस्तु तत्व का निर्णय करते हैं क्या समझ में आया आप नहीं समझ में आया तो फिर सुनो योग दर्शन के अनुसार हम तीन प्रमाणों से किसी सत्यासत्य का निर्णय करते प्रत्यक्ष प्रमाण एक अनुमान प्रमाण दो शब्द प्रमाण तीन यदि हम इन प्रमाणों में से यदि ईश्वर का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर से मिलने की प्राप्त करने की बात नहीं आ सके ध्यान दो विभाजन करेंगे हम योगी ईश्वर को प्रत्यक्ष देखता है क्या समझे वो सीधा प्रत्यक्ष करता हुआ ईश्वर समर्पित रहता है उसको कोई उलझन नहीं है अब जो योगी नहीं है उनके लिए क्या है वो अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से परमात्मा के निकट अपने आप को मान सकते हैं कुछ थोड़ी सी तो आई बात समझ में नहीं आई अनुमान प्रमाण से शत प्रतिशत ईश्वर का निर्णय हो जाना चाहिए शब्द प्रमाण से ईश्वर का शत प्रतिशत निर्णय हो जाना चाहिए यदि संदेह है तो ध्यान नहीं लगेगा आप ध्यान जब लगाएंगे तो कौन से प्रमाण से ईश्वर का निर्णय करेंगे आप बोलिए अनुमान से निर्णय करेंगे अथवा शब्द प्रमाण से निर्णय करेंगे अब एक दर्शांत है पिताजी जो सामने बैठे हैं जी पिताजी जो सामने बैठे हैं बच्चे के वो पिताजी का आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है या अनुमान प्रमाण से सिद्ध है हाँ, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं उनके पिताजी की गाड़ी प्रत्यक्ष है कुछ समझ में आई प्रत्यक्ष प्रमाण से पिताजी की गाड़ी प्रत्यक्ष है गुरु जी की गाड़ी प्रत्यक्ष है गुरु जी का आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है जब गुरु जी की गाड़ी प्रत्यक्ष होने पर गुरु जी का पक्का प्रत्यक्ष दिमाग में बैठ सकता है तो परमात्मा की गाड़ी संसार प्रत्यक्ष होने पर परमात्मा का पक्का निर्णय हो सकता है कुछ कुछ समझ में आई बात हम्म? ध्यान दो बात ये कही जा रही है कि किसी न किसी तीनों परमाणु में से हमारा सत्य सिद्ध होना चाहिए या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जब प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता तो अनुमान प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए अनुमान से सिद्ध नहीं होता तो शब्द प्रमाण से होना चाहिए आपके दादी का दादा था या नहीं था कौन से प्रमाण से सिद्ध है अनुमान प्रमाण से सिद्ध है अथवा शब्द प्रमाण से आपके पिताजी कहते तेरा दादा ऐसा था तेरा परदा ऐसे वो शब्द प्रमाण से सिद्ध होगा या तो शब्द प्रमाण से सिद्ध होगी बात या अनुमान प्रमाण से सिद्ध होगी बात अथवा अब ध्यान दो ध्यान अवस्था में जब ध्यान करता है व्यक्ति तो कौन से प्रमाण से काम लेता है अनुमान प्रमाण से लेता है अथवा प्रकरण से बाहर नहीं बोलना है और नई बात छेड़ दी आपने वो नहीं करनी मेरी पकड़ो ध्यान देना प्रकरण से बाहर गए रोक दिया जाएगा उससे लाभ नहीं होता कुछ निशांतर हो जाता है केवल विषय वो पकड़ो जो पकड़ाया जा रहा है और कहीं ध्यान नहीं देना अब उसी को पकड़ नहीं पा रहे दो और छेड़ दिए तो बड़ी कठिनाई पड़ जाएगी एक विषय पकड़ में नहीं आ रहा उसने दो तीन और छेड़ दिए वो एक ही बुद्धि में नहीं बैठा है जो बात आपको पकड़ाई जा रही है उसको क्यों नहीं पकड़ते उलझन क्या है ध्यान में परमात्मा के विषय में संशय पैदा होता है सीधी सी बात है बताओ होता है नहीं होता प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है बैठ के देख लीजिए अच्छी तरह आत्मनिरीक्षण है जो परमात्मा का ध्यान करते हैं तो कई बार संदेह होता है पता नहीं परमात्मा है या अब ये संदेह होगा तो ध्यान कहां होगा नहीं समझ रहे उलझन को इसलिए योग दर्शनकार ने चौदह तेरह विघ्न गिनाए हैं शत्रु क्या समझे योग के शत्रु योग के विरोधी तत्व है चौदह अथवा तेरह वो गिनाए गए हैं उन चौदह तेरह में से एक संदेह जो है वो शत्रु है संशय संशय भी हो जाता है तो व्यक्ति की आस्था विश्वास धराशायी हो जाता है और ध्यानवान एक बहुत बड़े गृहस्थ बड़े दानी ऋषि भक्त लाखों रुपया ऋषि पर खर्च करने वाले अब तो चले गए हमने पूछा दीपचंद आर्य ये बताइए कि आप जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा के प्रति कैसी स्थिति रहती है दीपचंद आर्य कहते हैं मैं ऋषि भगत हूं बहुत मानता हूं पर कई बार जब मैं ध्यान में बैठा हुआ होता हूं तो मैं सोचता हूं पता नहीं ये भगवान है या नहीं है सबकी हालत है ये आप मत मानना कि हम पक्के हो गए हैं क्यों जी ऐसे मत मान बैठना हम पक्के हो गए हैं अब सोचने की जरूरत है भूल जाइए दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को ये कोई साधारण विषय नहीं है तो ध्यान दो ध्यान करने वाला अनुमान प्रमाण से परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सुरशक्ति मान न्यायकारी दयालु मानता है शत प्रतिशत और शब्द प्रमाण से तब वो ध्यान में जमता है संशय हो जाए तो ध्यान की स्थिति गड़बड़ा जाती है कभी प्रयोग करके देख लो अब दुकानदार ने दूध की दुकान खोली इसने भी दूध की खोली वो पानी मिलाता है ये शुद्ध दूध बेचता है इसमें दो तीन ग्राहक आते हैं उसमें सैकड़ों ग्राहक खड़े होते हैं सस्ता उसने वैसे कर दिया माला माल हो गया वो कहता है हमने सुना है भगवान न्यायकारी है जी अन्यायकारी माला माल और दूध शुद्ध बेचने वाला कंगाल का कंगाल पता नहीं भगवान है आप इसी चक्कर में पड़े हैं आपका जीवन चरित्र सुना रहा हूं मैं नहीं समझ में आ रहा आपके जीवन चरित्र की रूपरेखा आपके सामने रख रहा हूं आप पकड़ो मत पकड़ो आप इसी इसी क्षेत्र में तो क्या करना है शब्द प्रमाण के आधार पर अथवा अनुमान प्रमाण के आधार पर अपने संशय की निवृत्ति करते रहना चाहिए करते रहना चाहिए जब भी मन में संदेह हो अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से संशय को खदेड़ते रहो उखाड़ते रहो नहीं शब्द प्रमाण में लिखा है ईश्वर सच्चिदानंद है वही ठीक है होते होते क्या होगा संशयात्मक जो ज्ञान है वह नष्ट हो जाएगा एक विज्ञान की बात सुन लीजिए हमारे ज्ञान की चार अवस्थाएं होती हैं कितनी है भाव आत्मक एक भ्रमात्मक दो संशयात्मक तीन निर्णयात्मक चार कुछ नाम याद हो गए हो गए हाँ अभावात्मक और भ्रमात्मक संशयात्मक और निर्णयात्मक एक मोटा दृष्टांत देंगे जिससे जंगल में रहने वाला भी बात को समझ जाए नहीं समझाने में कमी नहीं होगी करने धरने में कमी होगी इस बस्तर पर आज एक व्यक्ति लेट गया गद्दा है और सो गया अब सो गया उसके नीचे बीचू बुझा हुआ था कुछ समझ में आई बात क्या था बिच्छू और वो आगे सो गया बिच्छू के विषय में हमारा ज्ञान अभावात्मक है कुछ ज्ञान नहीं है एक बात तो आगे पकड़ में आप सो तो नहीं रही हो नहीं? देखो ये बात इसलिए कही जाती सावधान हो जाए नहीं तो नहीं लग जाता बात समझ में आती नहीं तो एक अवस्था वो लेट गया और वो बिच्छू जो था वो उससे फर्क नहीं लगा एक बिच्छू जैसा मकड़ा होता है मकड़ी छोटी होती है मोटे को मकड़ा बोलते हैं या क्या बोलते हैं अलग बात हाँ छोटी छोटी मकड़ियां होती है जाला बनाती एक बहुत मोटा होता है बिच्छू जैसा हम तो उसको मकड़ा बोल देते तो वो ने जब नीचे नीचे सरका <laughs> तो छोटी सी चीज भी सरकती है बहुत बड़ी लगती है वस्त्र के नीचे नहीं देखा आपने कभी वस्त्र के नीचे छोटी सी चीज सरकेगी तो बहुत बड़ी दिखाई थी अब ध्यान दो वो सरकने लगा उसने सोचा कि भाई ये तो मकड़ा है तो ये कौन सा ज्ञान है अब आप कुछ भी नहीं बोल रही ये कौन सा ज्ञान है उसने मकड़ा मान लिया भ्रमात्मक है मिथ्या ज्ञान है उल्टा ज्ञान है हो गया फिर उसने देखा थोड़ा कठोर कठोर दिख रहा है ये तो ऊपर से क्या लंबा चौड़ा है नहीं नहीं ये बिछू हो सकता है ये संशयात्मक ज्ञान है पता नहीं ये बिच्छू है या मकड़ा है उसने कहा कि निकाल क्यों नहीं दिया जाए खाम का क्यों झगड़े में पड़े और बिच्छू की स्थिति ये होती है वो डक को तैयार रखता है छिड़ते ही मारेगा बिच्छू की स्थिति है उसके पूछ में होता कांटा है नहीं देखा कभी कांटा होता है ऐसी मारेगा एकदम उसने जब वो हाथ मारा और निकालने एकदम काटा मारा क्योंकि नहीं नहीं ये तो मकर ये तो बिछू ही है ये कौन सा ज्ञान है ये निर्णय आत्मक ज्ञान है ध्यान दो मनोविज्ञान है आत्मविज्ञान है हमारा ज्ञान कभी निर्णयात्मक कोटि में होता है कभी संशयात्मक कोटि में होता है कभी भ्रमात्मक कोटि में होता है कभी अभावात्मक कोटि में होता है ये आत्मविज्ञान है मनोविज्ञान है आप देखेंगे बिजली की भांति बदलता है ये दो मिनट पहले परमात्मा का निर्णय हो गया परमात्मा है और दो मिनट के पीछे सोचने का पता नहीं परमात्मा है तो ध्यान दो मुख्य विषय पर चलो जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं जब संशय होता है तो शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से संशय को हटाते रहना चाहिए हटाते रहना चाहिए तो धीरे धीरे वो निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचेगा हम यहां पर पहुंचे अब ध्यान दो एक बात आपने ध्यान से सुननी है आपने प्राणायाम की विधि सीखी चार प्रकार के प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी ये नाम आपको सत्यार प्रकाश के विशेष मुलाजमे में मिलेंगे संस्कृत और ये जो सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार है पुस्तक इसमें जितने विशेष शीर्षक बनाए कितने वो एक एक को खोला उसमें मैंने बहुत मोटी भाषा में समझाने का प्रयास किया अब ध्यान दो भाई ये प्राणायाम में इंद्रिय को ऊपर खींचने का विधान है तीन प्राणायामों में इंद्रिय को ऊपर खींचने का विधान नहीं है क्या समझ में आया आ गया समझ में है हाँ जी दूसरी बात भाई ये प्राणायाम का अभ्यास करते करते दो मास तीन मास छह मास एक वर्ष करते जाइए अच्छी तरह से जम के करिए आपका ध्यान जमने लग गया जप भी होने लग गया प्राणायाम करने में कोई कठिनाई नहीं होती तो समझना अब प्राणायाम बाह्य प्राणायाम की सिद्धि सफलता हो गई फिर अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करना बीच में नहीं करना क्या समझ में आया बोलिए फिर से सुनो हाँ पहले इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह हो जावे तब अभ्यंतर का करना ये नहीं कि ये प्राणायाम किया फिर अंदर रोक दिया फिर ये प्राणा ऐसा मत करना प्राय ऐसा करते हैं लोग या नहीं करते ऐसा ही करते हैं प्राण हाँ।, हाँ तीन हम्म, हम्म, फिर आगे हाँ तीन प्रातः तीन आरंभ में फिर एक सप्ताह में एक बढ़ा दिया फिर एक सप्ताह में एक बढ़ा दिया ये भी ध्यान देना एक तो शारीरिक शक्ति देखनी चाहिए अलग अलग शक्ति है तो अलग अलग प्राणायाम होगा भोजन पौष्टिक है शुष्क है वो अलग अलग प्राणायाम होगा बूढ़ा व्यक्ति है या युवा है अलग अलग प्राणायाम होगा ऋतु उष्ण काल है शीतकाल है अलग अलग प्राणायाम होगा अनुभूति अलग प्राणायाम होगा कितनी बातें आई कितनी बातें फिर सुनो अपनी शारीरिक शक्ति जिसकी अधिक होगी वो अधिक प्राणायाम कर सकेगा कम होगी तो बूढ़ा व्यक्ति कम प्राणायाम कर पाएगा युवा व्यक्ति घी दूध अधिक मक्खन पौष्टिक भोजन खाने वाला अधिक प्राणायाम कर सकता है रुक्ष भोजन खाने वाला कम करेगा फिर ऋतु उष्ण काल में कम से कम प्राणायाम वर्षा काल में उससे कुछ अधिक और शीत काल में सबसे अधिक ये ऋतुओं के हिसाब से फिर गणना गणना कितने प्राणायाम मैं कर रहा हूं उसकी गणना करना फिर अनुभूति एक व्यक्ति प्राणायाम करते करते 10-15 प्राणायाम कर पाया फिर मुंह सूखने लगता है होठ सूखने लगते बस अब प्राणायाम नहीं कर यह अनुभूति है प्राणायाम करते करते मुंह सूखने लगता है होठ सूखने लगते हैं तो समझ लेना अब प्राणायाम नहीं करना चाहिए है हाँ, कोई भी रुक्षता आती है रुक्षता आती है कभी उठो को उभरेगी तो कभी गले में उभरेगी कभी उभरेगी वो रुक्षता शुष्कता समझ लो अब प्राणायाम नहीं करना चाहिए हाँ तो मतलब अपनी सीमा आई ना आयुर्वेद के आचार्य ने कहा कि व्यायाम करो जैसे आसन करते हो उनका कितना व्यायाम करें इनका पसीना पसीना हो जाओ जो रुक जाना एक और मुंह से हाँफने लगो तब रुक जाना देखिए व्यायाम करते करते व्यक्ति नाक से सांस नहीं ले सकता मुंह से लेना पड़ता है तो अब व्यायाम करना बंद कर देना चाहिए पसीने की पहचान है रुक्षता की पहचान है उससे आगे व्यायाम ये पहचान होती है तो अधिक करेगा तो उसमें रुक्षता आएगी और उसमें दिमाग खराब हो सकता है ये जो अठयोग दीपी का पुस्तक है घेरन संगीता है जो आजकल भारत के बड़े ग्रंथ माने जाते हैं इनमें इतनी उल्टी चीजें लिखी है इनकी चीज करने लिख जाए तो पागल हो जाएगा वे अठयोग दीपी का एक पुस्तक है मध्यकाल में लिखी गई है मच्छंद्रनाथ गोरक्षनाथ ये संप्रदाय हुए हैं आठ नौ उस काल में लिखी गई है और उसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति रोज प्रतिदिन तीन प्राणायाम करे अब बताइए और ऋषियों ने क्या लिखा है अधिक से अधिक इक्कीस चीज करना बलवान व्यक्ति की बात है ये सबके लिए नहीं है अधिक से अधिक इक्कीस प्राणायाम करो कम से कम तीन प्राणायाम करो और रोगी हो जाओ तो एक भी प्राणायाम मत करो साधारण रोगी नहीं विशेष रोगण अवस्था में एक प्राणायाम भी नहीं करना चाहिए खा करके प्राणायाम नहीं करना चाहिए भोजन पच जाए उसके पीछे प्राणायाम होगा ही नहीं रोकना चाहिए जैसे कि अंदर रोक दिया आपने आप चौथाई मिनट रोक सकते थे आपने आधा मिनट रोक डाला तो चक्कर आ जाएंगे दिमाग खराब हो जाएगा बलात् निकलना है कुछ इतनी बातें बहुत होंगी प्राणायाम की ये आपकी भूल करोगे आप लोगों ने ये मान रखा है प्राणायाम घोटते घोटते मुक्ति में चला जाता है दिमाग खराब हो जाता है ये तो सहायक है शरीर की शुद्धि होती है मन इंद्रिया बस में आते हैं उचित मात्रा में करो ये उसको समझना चाहिए अच्छा सुनो जो लोग ये प्राणायाम का अभ्यास कर चुके हैं अथवा थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो अभ्यंत प्राणायाम कैसे करते हैं ये समझिए आप अभी करना नहीं है मतलब आपने जो कर चुके हैं बाह्य प्राणायाम वो कर सकते हैं इसमें ध्यान दें प्रारंभ के काल में जो प्राण अंदर गया हुआ होता है उसको बाहर निकाल देते ये तो सामान्य बात है आप अनुभव करेंगे कि जो प्राण अंदर चला जाता है वो अंदर की अशुद्धि गंदगी को लेके बेकार हो जाता है क्या समझ में आया जो प्राण अंदर जाता है हमारा शरीर इतना दूषित है अंदर से इतना गंदा है कि एक बार प्राण गया और बेकार हुआ हम्म? अगली बात समझ में अनुभव करना हो तो क्या करोगे एक घड़ा ले लो मटका ले लो और खूब सांस भर करके उसके अंदर घुस जाओ फिर यहां से बंद कर लो और उसको बार बार लेके देखो सांस को क्या पता चलेगा क्या समझ में आया ले नहीं सकेंगे आप नहीं ले सकेंगे आप दुगुना लेके चले जाना मुंह में और घड़े में मुंह दे देना और बाहर से बंद कर देना <laughs> कितनी देर तक करेंगे आप एक दो बार भी मुश्किल से कर पाएंगे कुछ नहीं ले सकते इतना गंदा हो जाता है प्राण बेकार हो जाता है समझ में आ गया नहीं आया अब हमने प्राण को अंदर लिया और आरंभ है ये अभ्यंतर प्राणायाम अभ्यंतर का अर्थ है अंदर प्राण को रोकना ठीक है देखो आरंभ करने लगे तो प्राण को बाहर फेंक दिया एक बार अब अंदर लेके अंदर भरेंगे आप संकेतों से आप देखिए मैं अंदर भरता हूं आभ्यंतर प्राणायाम हो गया जिसके समझ में नहीं आया पूछो आ गया समझ में अच्छा ये बतलाइए आपके मन में कुछ शंकाएं हैं क्या पूछने की हैं नहीं हैं हाँ तो एक व्यक्ति कौन है पूछिए आप ये शंका है ना तो उसका यथाशक्ति पहले बताया आप 20 सेकंड रोकिए ये आवश्यक नहीं है कि जितनी देर तक मैं रोकू एक बच्चा तो एक पाव दूध पीता एक पहलवान एक किलो पी जाता उसका मतलब क्या हुआ तो यथाशक्ति को याद रखिए हम बोलिए आपकी शंका नहीं रहनी चाहिए जो कोई कहेगा कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया हाँ बोलो को अंदर जब पत्नी जब अंदर लगता है और ज्यादा नौकरी अंदर ना हाँ वो क्योंकि प्राण से हमारा संचालन अत्यंत आवश्यक है इसलिए इच्छा रहती है और भाई ये प्राणायाम होती है और पूर्ति करने के पीछे फिर दो बार उसको बाहर हैं हाँ जी सुनो इनको इनका इनको बोलने बोलो हाँ, अंदर लेकर के पूर्ति तक सीमित रखना आवश्यकता पूरी होने पर अंदर नहीं रोकना अंदर नहीं रोकना बाह्य प्राणायाम में है और अभ्यंतर में यह कि अंदर प्राण को लेके अंदर रोकना ना अब हरिश्चंद्र जी उठे थे वो बोलेंगे अब सुनाई नहीं दिया हा हाँ, उनका कहना है नासिका से लेते हैं और नाशिका से ही निकालना भी चाहिए सुनो सुनो हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है ना ये है अन्य ऋषियों की बात या आधुनिक लोगों की बात ऋषि ऐसा कुछ भी नहीं मानते इसको दूसरी दृष्टि से सोचिए किसी ने अपनी नाक साफ करनी हो <laughs> तो वजह कर सकता है ये योग के साथ इसका कोई संबंध नहीं है कुछ भी हो वो हमारे ऋषि नहीं मानते इस ना ना सुनो ध्यान काल में इन चीजों को सोचोगे तो आपका व्यापार चलेगा आपस में कुछ संबंध नहीं है हाँ वो आजकल चलता है हाँ हाँ तो इसलिए ध्यान देना प्राणायाम का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए होता है कहीं हम उस उसमें नहीं जा रहे ऋषियों ने जो योग के लिए प्राणायाम बतलाया वो यही है ना बाह्य नाक से छोड़ना ना बाएं स्वाभाविक चलेगा नासिका से स्वाभाविक आएगा स्वाभाविक जाएगा यदि आप इस झगड़े में लग गए कि इससे खींचू इसे खींचू तो होम का जब कैसे करोगे उसका कोई मतलब नहीं है फिर तो इसलिए ऋषियों की परंपरा ऐसी नहीं है ऋषियों ने ऐसा विधान नहीं किया सीधी ये एक ही बात है आजकल जो प्रयोग होते हैं विविध वो हमें कोई बाधा नहीं पर वो योग में बाधक होंगे स्वास्थ्य के लिए उनका प्रयोग हो जाए शुद्धि किसने करनी हो निष्नाक की यदि शुद्धि करनी हो तो इसको खुला छोड़ दो और जैसे ऐसे लेटो तो ये नाक खुल जाएगी आपने तो नाक खोलनी थी ये फिर बंद हो गई फिर इसको ऐसे लेट जाओ ये खुल जाएगी ये तो स्वास्थ्य की बातें हैं स्वास्थ्य के लिए कोई चीज ऐसे प्रयोग में आती हो तो ले लो पर योग के साथ इनका सीधा संबंध कुछ नहीं है ऋषियों के मतानुसार और कोई शंका ठीक है अब चलो ध्यान दो इस बात पर ध्यान अवश्य देना चाहिए आपको शंकाएं तो बहुत होती हैं समाधान भी बहुत होते हैं पर व्यक्ति बीस शंका का समाधान कराने वाला वो दो का आचरण नहीं करता ये स्थिति व्यक्ति की खराब हो गई क्या समझ में आया बीस बातें पूछेगा वो और उनका समाधान बीच हो जाएगा कल वो बीस में से दो का आचरण भी मुश्किल से करता है अठारह को बिल्कुल बेकार बना देता है इसलिए जो बात समझ में आ गई उसके ऊपर जोर देना चाहिए कि सत्य है उसके उद्दित हो जाओ और जो बात समझ में आ गई ये असत्य है उसको छोड़ने के लिए उद्दित हो जाओ ये प्रगतिशील विकृत होने का ढंग है उत्सुक होते हैं कि समाधि में क्या अनुभव होता है उसने कहा समाधि में प्राण रुक जाते हैं क्या समझे प्राण रुक जाते हैं समाधि में किसी ने कहा उन्होंने कहा ठीक है समाधि में प्राण रुक जाते होंगे ठीक फिर कहते समाधि में यह भी होता है हवा से जीता है समाधि में केवल हवा खाता पंद्रह बीस वर्ष तक जीता रहता है मोटा ताजा रहता है कहते ये भी हो सकता है एक कोई समाधि के लक्षण नहीं है समाधि में प्राण कोई नहीं रुकते प्राणायाम करना चाहो तो कर लो ना करना चाहो तो प्राणों को जैसे सोते हुए प्राण चलते हैं समाधि में ऐसे चलते रहते हैं क्या समझ में आया आ गया समझ में जैसे सोते हुए प्राण चलते रहते हैं स्वभाव है समाधि में योगी के समाधि अवस्था में प्राण अपने आप को ऐसे स्वभाव से चलते रहते हैं वही प्राण बंद करने का मतलब नहीं चलते दूसरी बात समाधि के मुख्य दो भेद हैं दो योग की परिभाषा याद रखिए योग है चित्त वृत्ति निरोध है क्या अर्थ है चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते योग चित्तवृत्ति निरोध है आजकल जो सांस घूटने का नाम योग रखा है दंड बैठक का नाम योग रखा है नीति धोती का ये सब बेकार की बातें हैं ऋषियों की परिभाषा में बिल्कुल नहीं है ये योग चित्तवृत्ति निरोध है ये व्यापक परिभाषा है और विश्व का सारा योग इसमें अंतर्निहित हो जाता योग चित्त वृत्ति निरोध योग चित्त वृत्ति निरोध ये योग दर्शन का दूसरा सूत्र है ध्यान दो हमारे चित्त की पांच अवस्थाएं हैं हाँ जी पीछे वाले को नींद आए तो सीधी गर्दन करो ऐसे करोगे तो नींद आने लग जाएगी और फिर भी नींद आई तो मुंह धो लो कितनी अवस्थाएं हैं क्षिप्त एक मूढ़ दो विक्षिप्त तीन एकाग्र चार निरुद्ध पांच याद हो गई कैसे सुनो क्षिप्त चंचल बिजली की भांति मन चलता है उसका नाम क्षिप्त है मूर्छा हो गई क्लोर क्लोरफार्म सुंगा दिया चोट लग गई बेहोशी आ गई निद्रा ये क्या है मूढ़ दो तो आ गई समझ में कम से कम है हाँ जी आ गई दो आ गई दो तीसरी जब ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी किवाड़ खटखटा दिए कभी बाहर से आवाज आ गई फिर ध्यान हट गया फिर जमाया फिर आ गया फिर दीवे की लौकी करे तरह चले सीधे फिर आया दीप का लो जैसे हवा के झोंके से ऐसे हो गया फिर अर्थात एकाग्रता आरंभ तो होती है पर बाह्य आंतरिक कारणों से वो डिग जाती है इसको भी आप देख सकते तीसरी अवस्था का भी अनुभव कर सकते हैं आप क्षिप्त का तो सभी करते हैं मूड का भी करते हैं और विक्षिप्त का ध्यान अवस्था में रहने वाले करते हैं ध्यान लगाते हैं बड़ी बाधाएं आ जाती है वो मन में पता नहीं क्या उठा लिया उसने वो ध्यान देख गया किसी ने किवाड़ खटखटा दिए ध्यान देख गया बाह्य बाधक और आंतरिक बाधक कारणों से ध्यान डिगता रहता है लगता है डिगता है लगता है डिगता है इसका नाम विक्षिप्त क्षिप्त एक है दो विक्षिप्त तीन ये तीनों आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे सकते आप देख सकते हैं इनको आगे बात समझ पर ये जो दो अवस्थाएं हैं इनको केवल योगी देख पाता है प्रत्यक्ष शब्दों से आप समझ लेंगे प्रत्यक्ष नहीं होंगी ये ये तीनों प्रत्यक्ष हो सकती हैं आपके ये एकाग्र ये संप्रजाति योग है इसको एकाग्र भी कहते हैं संप्रज्ञात योग भी कहते हैं संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं ये नाम इसी के हैं इसको निरुद्ध कहते हैं इसको असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं इसको निर्वीज समाधि भी कहते हैं ये पर्यायवाची है कुछ समझ में आगे बात नहीं आई हरी हरी हरी हाँ इसका नाम एकाग्र है इसका नाम संप्रज्ञात समाधि भी है इसका नाम सभी समाधि भी है इसका नाम एकाग्र और इसका जो पांचवी अवस्था है इसको निरुद्ध भी कहते हैं निरुद्ध अवस्था और असम प्रज्ञात समाधि मेरे बीज समाधि इन नामों से बोली जाती हाँ आपने पहले हाँ तो तो पहले आप अपना आप अपने पास रखो मैंने कहा दूसरे विषय को मत छेड़ो यही तो भूल करता है इसको विद्या पढ़नी नहीं आती है नई चीज छेड़ दी आपने अब वो विषय तो सबका है आपका रुचि हो सकती है पर अब वो किसी काम के नहीं है जो आपने छेड़ी ये कोई मतलब नहीं है आपका अगली चीज जो बताई जा रही वो कहां जाएगी जो मैं इसमें पड़ गया तो अब आप पांचवी की भूख है वो उनको ये तो ऐसा ही हो सकता वो तर्क कर बैठे अब पढ़ना सीख लो कम से कम पढ़ाई ऐसे नहीं होती इतनी महत्वपूर्ण चीजें चल रही है फिर आपने नई चीज छेड़ के खड़ी कर दी सारी अवस्था बिगाड़ दी बुरा नहीं मानने की बात है ये अनुशासन है कई लोग नाराज हो जाते हैं उनको बैठना आता नहीं अनुशासन आता नहीं वे नाराज होते तुम नाराज होने के लिए आए थे क्या यहां <laughs> अनुशासन में रखो तो नाराज होते हैं क्या मतलब है इसका कुछ भी नहीं अनुशासन में रहो बड़े प्रेम से रहो रुक जाओ रुक जाओ चलो चलो सैनिकों की तरह चलो ये जो चौथी अवस्था है ये समाधि की अवस्था है एकाग्र ये संप्रजा समाधि है और ये अवस्था ऊंचे विवेक वैराग्य से उत्पन्न होती है साधारण विवेक वैराग्य से नहीं आती व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का जब वैरागी बनता है विवेकी तब यह अवस्था सामने आती है अब ध्यान देना इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है प्रभाव तो चंचलता का भी पड़ता है आप देखेंगे जो अवस्था आएगी वो प्रभावित करेगी हमको कभी देख लेना आपने देखा कि मैं वो देखूं ये देखूं टेलीविजन में ये आ रहा है वो आ रहा है आपके शरीर में खलबली मच जाएगी और कहेंगे नहीं मैं नहीं रहता मैं जा रहा हूं <laughs> वो चंचलता आपको बहुत भगा देगी नहीं आई बात समझ में चंचलता आएगी तो वो भगा देगी और निद्रा आएगी तो लुटक जाएंगे आप वो निद्रा भी आपको लुटका देगी जो अवस्था आएगी वो अपना प्रभाव डालती है ये तो पता चल गया अब ये अवस्था भी अपना प्रभाव डालती है ये एकाग्रता ध्यान देना एक प्रभाव इसका ये रहता है ये व्यक्ति शरीर की दृष्टि से जब ये एकाग्रता उत्पन्न होती है तो यहां पर दबाव जैसा पड़ता है ये यहां पर यहां पर दबाव पड़ता है जैसे कोई चीज चिपका दी गई हो वो हानिकारक नहीं वो गति का प्रभाव है यदि समझना हो तो क्या समझोगे आप दीपक की लव जल रही थी कल्पना कीजिए ऐसे हुई हवा से ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ये विक्षिप्त दीपक को हमने बिना हवा के बिल्कुल सीधी लौ चलने लगी वो दूर तक मार मारने लगा फिर क्या समझे आप नहीं आई बात समझ में सीधी होने पर वो दूर तक जलाने लगी वो दीप की लव ऐसे ही चित्त की शक्ति जब इकट्ठी कर दी जाती है वो दिमाग यहां के सारा संग्रह हो जाता है कुछ आई बात समझ में वैज्ञानिक बात है ये तो ये प्रभाव यहां रहता है और जिस समय ये प्रभाव रहता है उस समय योगी के अंदर कोई बात बाहर की आ नहीं सकती अधिकार आधिपत्य होता है राजाओं का राजा बन जाता है वो स्थिति आती है वो कोई भी विचार आ नहीं सकता पूरा अधिकार होता है और यदि संस्कारों के कारण को भर जाए तो तत्काल रोक देता संस्कार मरे नहीं है वो दबे हुए हैं क्या समझे ध्यान देना समाधि लगते ही लौकिक संस्कार दब जाते हैं और समाधि हटते ही लौकिक संस्कार पुनः जागृत होते हैं मनोविज्ञान है जीव का जो मैं आपको सुना रहा हूं और ये प्रयोग मेरे अपने प्रत्यक्ष है केवल पुस्तकों में लिखा है दर्शनों में ये सारी बातें हैं उपनिषदों में सारी बातें हैं वेदों में सारी पर हम तो इनका प्रयोग करके कर देखते हैं और सुनो दो डिग्री ज्वर हो गया बुखार इस समाधि अवस्था में दुख नहीं दे सकेगा अब क्या समझ में आया फिर सुनाता हूं एक डिग्री जुर् हुआ फिर दो हो गया दो तक चलिए इस समाधि अवस्था में वो डिग्री दो डिग्री ज्वर जो है वो दुख नहीं दे सकेगा शारीरिक प्रभाव है तीन होगा तो फिर बाधा पड़ने लगेगी और छह हो जाए तो समाधि भंग होने लगेगी ये ध्यान देना अब कई बार फुंसी फोड़े होते हैं एक सीमा तक उसका जो दर्द है फुंसी फोड़े का अति नहीं एक सीमा तक वो दर्द सताएगा नहीं आगे बढ़ जाओ मैंने कुर्ता पहना एक कंबल ओढ़ लिया और मैं शीत से सुरक्षित हूं कल्पना कीजिए मैंने कुर्ते को उतार दिया कंबल को उतार दिया और समाधि लगा ली तो एक कुर्ते और कंबल की जो शीत है ठंड वो मुझे नहीं सताएगी पर बर्फ से ढक दिया जाए तो समाधि भंग हो जाएगी ये मैं आपको शारीरिक प्रभाव सुना रहा हूं कुछ समझ में आ रही बात शारीरिक प्रभाव है मानसिक प्रभाव तो बहुत अधिक होता है शारीरिक प्रभाव समाधि का एक सीमा तक है कोई ये नहीं माने कई लोग लिखते हैं मानते हैं कि समाधि अवस्था में योगी की भुजा काट दो टांग काट दो उसको कोई पता नहीं चलता समाधि लगी रहती है ये है निराधार बातें व्यर्थ की बातें हानिकारक झूठी है कोई भी कैसा ही योगी क्यों न हो जब शरीर की नष्ट नाड़ियां नष्ट होंगी क्लोरोफान सुंगा दिया जाएगा इतना आघात पहुंचा दिया जाएगा नाड़ियां काम नहीं करेंगी समाधि भंग होगी ये अतिशय उक्तियां चलती अब दूसरी बात सुनिए मानसिक प्रभाव मानसिक प्रभाव इतना अधिक होता है कि कोई भी मानसिक दुख रोग काम क्रोध तो लोभ मोह उसको कभी दबा ही नहीं सकता आप मूल चूल नष्ट करता है योग में समाधि में कोई क्लेश मानसिक दुख योगी को नहीं सता सकता शत्रु काम करो दलो तो मोह आंतरिक शत्रु माने जाते हैं अति शत्रु हैं भयंकर हैं समाधि अवस्था में काम क्रोध लोग वो योगी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते अब और सुनो जब ये समाधि लगती है बौद्धिक स्तर पर योगी ऐसा देखता है जैसे मैं आकाशवत अवस्था में घूम रहा हूं अब बोलिए क्या समझ में आया ऐसी होती है एक उदाहरण दिया गया है व्यास भाष्य में एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा है ऊंची चोटी पर और वहां मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं है ना गली श्री चीजें और इस नगर के वासी लोगों को गांव के वासी लोगों को जो पहाड़ की तलेटी में रहते हैं गले सड़े पानी में मच्छरों से काटे जा रहे हैं मक्खियां उनके ऊपर चपट रही हैं और योगी वो चोटी पे यही चोटी पर रहने वाला व्यक्ति नगरवासी मच्छर कीट पतंग से काटे जाने वालों को देखता है ऐसे योगी अपनी स्थिति बौद्धिक स्तर पर देखता है ये दृष्टांत है आ गया समझ में व्यास भाषी में मिलेगा ये प्रज्ञा प्रसाद आरुह्य अशोच्य सोच तो जनान भूमिष्ठानी शैल स्थ सर्वान प्राचीन उपस्थित ये व्यास भाषी में मिलेगा आपको दृष्टांत दिया गया है योगी पहाड़ की चोटी पर जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति वो लोगों को नीचे देखता है आप कलेशों से रहित देखता है और दुनिया को कलेशों से पिसते हुए देखता है फिर से सुन लीजिए प्रज्ञा प्रसाद ये बुद्धि के विकास को प्राप्त होकर के असोच कलेशों से रहित सोच तो जनान कलेशों में पिसते हुए को लोगों को दुनिया को देखता है कैसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा व्यक्ति तलैटी में रहने वाले लोगों को देखता है ऐसे योगी बौद्धिक स्तर पर देखता है ये मानसिक स्थिति अब बहुत बड़ा विज्ञान है पर आज ये हमारे पास में है ये विदेशियों के पास में नहीं है जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है उनके पास में नहीं है हमारे पास में भी आपको बताना चाहता हूं जो वैदिक परंपरा को मानते हैं ऋषियों की परंपरा को शुद्ध मानते हैं पौराणों की पुट उसमें नहीं आई है उसके पास मिलेगा और वो दूसरे के पास में उनके भारतीयों के पास में भी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा आपको समझ में आई बात तो बहुत अधिक है ये इसकी मात्रा बहुत सूक्ष्म है अब ध्यान देना इस अवस्था तक ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं है अब क्या समझ में आया इस चौथी अवस्था में पहुंच गया और कलेशों से छूट गया आकाशगत अवस्था आई भौतिक पर अभी परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ अब हमारा समय समाप्त होता है थोड़ा सा रहा है अगली अवस्था क्या होती है वो इस अवस्था में गया हुआ जीवात्मा संसार से तो गया संसार उसके लिए गया रह गया अकेला आकाश में ध्यान देना संसार को परले बना देता है वो परले जिसी अवस्था में पहुंचा देता है इस अवस्था में समाधि में और वहां पर वो अकेला बिचरता है परमात्मा हाथ लगा नहीं और अकेला रह गया बच्चा जैसे भीड़ में मां को ढूंढता है ऐसे कहता है ओ बस परमात्मा ही परमात्मा चाहिए उसको और कुछ भी अब परमात्मा कहता है या कि ये जानता है ये मेरा पुत्र जीवात्मा ये पात्र बन गया है अब परमात्मा दया करता है उसके ऊपर और विशेष ज्ञान दे करके वो ज्ञान भी ज्ञान दे के समाधि लगवाता असंप्रज्ञात अभी संप्रज्ञात है ध्यान देना इस संप्रज्ञात समाधि से भी वैराग्य होता है आप समझने का ध्यान रखना यह संप्रज्ञा समाधि है इससे भी वैराग्य होता है अब परमात्मा उसको विशेष ज्ञान देता है और ज्ञान देके समाधि लगवाता है और अपना स्वरूप दिखा देता ये पांचवी अवस्था है अब हम विराम की ओर चलेंगे ये भी शुद्ध विज्ञान है वैदिक विज्ञान है दौर्भाग्य ये है आज विश्व इसको भूल बैठा है और वैज्ञानिक इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है भोगवादी भोगों में पड़े हुए ये वस्तु स्थिति है वास्तविकता है कल्पना बिल्कुल नहीं है इस अवस्था को प्राप्त होकर जीवात्मा ये कह उठता है प्राप्तम प्रापणीय जो मैंने पाना था जो पा लिया अब पाना बाकी सबसे ऊंची अवस्था हम प्रयोग करेंगे मोटे रूप में आज विज्ञान की बातें बहुत अधिक बताई है और क्रिया रूप को थोड़ा समय दिया गया है हम्म? ये अवस्था क्या है कि ईश्वर उसको पात्र समझ करके अपनी शरण में ले लेता है और समाधि लगवाता है वास्तविकता है ये कल्पना नहीं है पर पात्र होना चाहिए चाहे जिसको नहीं योग्य हो तो हम कवि के शब्दों में उस अवस्था का वर्णन करेंगे उपासक की भावना और की से काम पकड़ू से हारा और की काम पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है से का मैं पकड़ू सहारा और किसे का मैं पकड़ू जिंदगी को मैं खोता गुजरी है दिन और आते कितनी गुजरी है दिन और रातें नींद आंखों से धोई नहीं है और किसे काम पकड़ू सहा का ठुकराया हूँ सारे अब तो जिंदगी है तेरे हवाले अब तो जिंदगी है तेरे सादानी नहीं है जहां में मांगने को फिर जाऊं कहा में तुझ सादानी किसने पकड़ा है दामन तुम्हारा जिसने पकड़ा है दामन तुम्हारा उसकी किस्मत फिर सोई नहीं है और किसे का मैं पकड़ू सहारा से का मैं पकड़ू से दे दो थोड़ा अनल को सहा सफीना वह तुमने डबोई नहीं है और किसे का मैं पकड़ू सहारा और किसे काम पकड़ू सहारा स्वामी से काम मैं पकड़ू सहारा और किसे काम मैं पकड़ू सहारा ये ईश्वर समर्पण की रीति पद्धति भजन के माध्यम से सुनी अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है अब अगले कार्यक्रम आप करेंगे और व्रत पत्र जिसको नहीं मिले वो बताएंगे किसको नहीं मिले हाँ जी व्रत पत्र है हमारे